परम पिता परमात्मा का स्मरण करेंगे प्रणव ध्वनि ओ, ओ, ओ धर्म प्रेमी सज्जनों आर्य विविनय के द्वितीय प्रकाश का बावनवा मंत्र आज आर्यों के लिए विचारार्थ उपस्थित है ये मंत्र यजुर्वेद के बत्तीसवें अध्याय का तेरहवा मंत्र है परमात्मा से यहां पर प्रार्थना की गई है परमात्मा को संबोधित किया सदसस्पतिम अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य काम्यम परमात्मा का स्वरूप यहां पर बताया जा रहा है ऐसे परमात्मा को आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे परमात्मा को चाहे वो कैसे परमात्मा को चाहता है तो पहला परमात्मा का विशेषण दिया पतिम सदस कहते हैं सदन को सभा को सदसह सदन के सभा के पतिम स्वामी को सभापति को महर्षि लिखते हैं हे सभापते परमात्मा हमारी सभा का पति है सदन का पति है सभ्य लोग श्रेष्ठ लोग मिलकर के जो व्यवस्था करते हैं बैठते हैं उसको सभा कहते हैं जो सभा में ठीक ढंग से बैठता है उसे ही सभ्य बोलते हैं मनुष्यों का जो समुदाय होता है विद्वानों का जानकारों का समझदारों का उसे सभा कहते हैं तो कोई एक ऐसी सभा है जिसका स्वामी वो परमात्मा है सभा किस प्रकार की सभा में क्या होता है सभा में बैठे हुए व्यक्ति कुछ कुछ अपने मंतव्यों को किसी विषय के अनुसार रखते हैं कुछ गतिविधि करते हैं और सभा का पति उस सभा का संचालन करता है नियंत्रण करता है न्यायपूर्वक व्यवहार करता है सभा का पति सभा में अधिक विद्वान होता है अधिक योग्य होता है ऐसे ही व्यक्ति को हम सभा का पति स्वीकार करते हैं हम उसकी सुनते हैं हम उसके निर्देशों का पालन करते हैं तो ये संसार ये प्राणी जगत एक सभा है ये हमारा समस्त जीवन एक सभा के अंतर्गत चल रहा है और उस सभा का पति स्वामी वो परमात्मा है इसलिए उसे कहा सदस्य पतिम उस सभा के स्वामी को और उसके लिए विशेषण लगाए महर्षि ने वो कैसा सभापति है तो कहा विद्यामय है वो विद्या से युक्त है ज्ञानवान है किसी मूर्ख को सभा का पति नहीं बनाया गया है वो ज्ञान स्वरूप है ज्ञानमय है इसलिए वो सभा का पति है दूसरा कहा न्यायकारिन वो सभापति न्यायकारी भी है ज्ञानवान सभापति अपने किसी स्वार्थ प्रयोजन से अन्याय भी कर सकता है सभा में किसी का पक्ष भी ले सकता है पक्षपात कर सकता है किसी की उपेक्षा कर सकता है लेकिन वो न्यायकारी भी है विद्यामय है और न्यायकारी है जो विद्यामय नहीं होगा जानने वाला नहीं होगा वो न्याय करना चाहते हुए भी न्याय नहीं कर सकता जैसे न्यायाधीश को जब तक वादी प्रतिवादी सारा पक्ष ज्ञात न हो स्पष्ट न हो तो निर्णय नहीं दे सकता यदि सम्यक जाने बिना वो निर्णय देता है तो अन्याय होने की प्रबल संभावना है तो न्यायकारी होने के लिए पहले विद्यावान ज्ञानवान होना आवश्यक है तो परमात्मा विद्यामय है हम सब सभासदों को वो अच्छी तरह जानता है कौन क्या कर रहा है कौन क्या विचार कर रहा है किसकी कैसी भावना है उन सबको जानते हुए अब वो न्यायकारी है सब कुछ जानकर भी मनुष्य न्यायाधीश अन्याय कर सकता है पता है उसको कि ये अपराधी है और ये निरपराध है फिर भी वो उल्टा कर सकता है किसी स्वार्थ आदि प्रयोजन से तो परमात्मा विद्यामय भी है और न्यायकारी भी है और उसको कहा सभासत वो सभा में बैठता है रहता है वो सभा में रहता है विद्यमान रहता है वो ऐसा सभापति है संसद आदि में बहुत से सभापति होते हैं वो सदा नहीं बैठते हैं वो चले जाते हैं कभी किसी कारण से उनकी जगह कोई और बैठता है फिर किन परमात्मा सभा में सदा विद्यमान रहता है और आगे कहा सभा प्रिय सभा प्रिय के दोनों तरह से अर्थ हो सकते हैं कि सभा का प्रिय होता है वो जो सभा चल रही है उसका वो प्रिय होता है ऐसा सभापति है उस सभा में बैठे हुए सब व्यक्ति उसको पसंद करते हैं चाहते हैं ये हमारा सभापति हो बना रहे सभा के द्वारा जो प्रिय होता है और दूसरा अर्थ सभा है जिसको प्रिय ऐसा वो सभापति सभापति को सभा प्रिय है वो सभा का संचालन करना चाहता है वो सभा में बैठना चाहता है अनेक बार बिना इच्छा होते हुए भी सभापति बना दिया जाता है वो बैठता है निर्वाह करता है वैसे ही अरुचि से और जो सभासद बैठे होते हैं यदि उनका व्यवहार गलत होता है तो सभापति सभा के प्रति प्रिय भाव नहीं रख पाता सोचता है कैसे ये सभासद हैं ये कैसे सदस्य हैं नियंत्रण में नहीं रहते कैसे चलते हैं कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा करते हैं परमात्मा इस सभा को हम प्राणियों की सभा को चाहता है उसे हम सब प्रिय हैं परमात्मा हमारे से प्रेम करता है ऐसा वो सभा प्रिय है हम भले ही कितना उसके विपरीत आचरण करें तब भी वो अपने मन में हमारे प्रति प्रिय भाव को समाप्त नहीं करता हम उसके लिए सदा प्रिय हैं वो हमें प्रिय ही समझता है निकट ही समझता है अपना पुत्र ही समझता है अपना समझता है वो तो वो परमात्मा सभा प्रिय है हम भी उसको प्रिय समझते हैं आर्य लोग और परमात्मा तो हमें प्रिय समझता ही है वो हमें दंड भी देता है तो प्रिय समझ के देता है हमारे हित के लिए देता है अप्रिय मान करके दुष्ट मान करके शत्रु मान करके अप्रिय मान करके दंड नहीं देता है दंड भी वो इस तरह देता है जैसे कोई अपने प्रिय को देता है प्रियता का भाव उसके मन में हमारे प्रति हम सभासदों के प्रति सदैव रहता है तो परमात्मा हम सभासदों द्वारा भी चाहा जाता है हम उसे प्रिय समझते हैं आर्य लोग श्रेष्ठ लोग और परमात्मा भी हमें प्रिय समझता है तो सभा प्रिय है तो मंत्र में कहा पतिम ऐसे उस सभापति को जो विद्यामय है न्यायकारी है स्वयं सभा में बैठता है स्वयं सदा में सभा में भाग लेता है और वो सभा का प्रिय भी है और कैसा है तो मंत्र में कहा अद्भुतम वो अद्भुत है विचित्र है वो ऐसा सभापति है जो सभापति के सभी गुणों में जो उसमें होने चाहिए चरम पर है उत्कर्ष में है हर चीज उसकी विचित्र है जो कि हम मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं हो पाती उसे वो सब करता है अद्भुत है और प्रियम वो प्रिय स्वरूप है प्रिय के अतिरिक्त उसमें कुछ है ही नहीं जो भी जानता है समझता है परमात्मा के स्वरूप को और परमात्मा के कर्मों को परमात्मा की व्यवस्था को परमात्मा के दृष्टिकोण को वो जानता है कि परमात्मा ही प्रिय है परमात्मा ही सर्वप्रिय है इंद्रस्य इंद्र का आत्मा का ये इंद्र अलग है और वो परमात्मा परमेश्वर अलग है इंद्र का जो काम्यम काम्य है कमनीय है आत्मा के द्वारा जिसको चाहा जाता है जिसको चाहा जाना चाहिए ऐसा वो परमात्मा है संसार में हम बहुत सी चीजों को चाहते हैं क्योंकि वो हमें उपयोगी प्रतीत होती है लाभकारी प्रतीत होती है वो हमारे लिए काम्य है एक सीमा तक लेकिन परम काम्य सबसे अधिक कमनीय चाहने योग्य वो परमात्मा है क्योंकि ये काम्य वस्तुएं संसार की वस्तुएं भी उसी परमात्मा ने हमें दी हैं तो जब हम इन वस्तुओं को चाहते हैं तो इन वस्तुओं के देने वाले को इन वस्तुओं की व्यवस्था करने वाले को क्यों ना चाहें और जब आर्य इस संसार को भोगता हुआ इस संसार का उपयोग लेता हुआ सदा ध्यान रखता है कि ये सब परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है परमात्मा ने दिया है तो उसके मन में उस परमात्मा के प्रति अत्यंत प्रेम हो ही जाता है वो परमात्मा को ही प्रिय समझने लगता है ये वस्तुएं गौण हो जाती हैं यदि किसी बालक को विभिन्न वस्तुएं दी जाएं कभी वस्त्र दिए कभी पुस्तकें दी कभी खेलने के साधन दिए कभी खाने की वस्तुएं दी जो उसको उपयोगी हैं वो बार बार पहुंचाई जा रही हो लेकिन पहुंचाने वाले का पता ना हो दे कौन रहा है बस उसके सामने कोई अन्य व्यक्ति ला करके दे देते हैं तो बहुत छोटा बच्चा होगा तो उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि किसने भेजा है ये कौन दे रहा है ये वो केवल उन वस्तुओं तक सीमित रहता है और उनका उपयोग करता है भोग करता है प्रसन्न रहता है लेकिन जैसे जैसे बच्चे में समझदारी आती है देखता है ये भेज कौन रहा है ये जो लाने वाला है ये दे रहा है या और कोई दे रहा है और उसे बताया जाए कि ये कोई और भिजवा रहा है जानकारी के बाद फिर वस्तु आएगी फिर वो सोचेगा फिर वस्तु आएगी वो सोचेगा ये कौन है ये कौन भिजवा रहा है अब उसके मन में उस भिजवाने वाले के प्रति उत्सुकता मिलने की इच्छा बढ़ती जाएगी आखिर कौन वो व्यक्ति है जो मेरा हित चाह रहा है मैं तो उसका कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं ये कौन अनजान व्यक्ति है जो मेरा इतना हित कर रहा है उसमें जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है जानकारी बढ़ती है वो सोचने लगता है तो उस व्यक्ति के प्रति मन में अत्यंत प्रेम को उत्पन्न करता जाता है उसको मिलने की लालसा उसको पाने की इच्छा से युक्त होता जाता है पहले जहां उस बच्चे के मन में वो वस्तुएं मुख्य थी वस्तुओं को अधिक प्रिय समझता था धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आएगा वस्तुओं के प्रति प्रेम होते हुए भी देने वाले के प्रति प्रेम बढ़ेगा और वो बढ़ते बढ़ते इस रूप में आ जाएगा कि वो वस्तुएं उतनी प्रिय नहीं लगेंगी जितना वो देने वाला प्रिय लगने लगेगा इसी प्रकार से आर्य जो सोचता है विचारता है जो समझता है कि ये जो माता पिता या गुरुजन कुछ कोई चीज देते हैं वो सब ये तो नहीं दे सकते ये बना नहीं सकते इसके पीछे कोई और है देने वाला जो सारी व्यवस्था कर रहा है तो उसके मन में इन वस्तुओं का भाव इन वस्तुओं की प्रियता धीरे धीरे कम होती है और देने वाले की प्रियता बढ़ती जाती है और जब वो बहुत जागरूक होता है सब कुछ समझने लगता है तो उसके मन में वो परमात्मा ही प्रिय हो जाता है तो जो इंद्र है आत्मा ऐसा आत्मा जो ऐश्वर्य वाला है जो समझने लगा है जो जानकार है उसके लिए तो प्रिय केवल वही परमात्मा होगा तो पतिम सभा के पति को अद्भुतम जो विचित्र गुणों वाला है प्रियम जो प्रिय है सर्वप्रिय है इंद्रस्य काम्यम जो इंद्र के लिए काम्य है कमनीय है चाहा जाने योग्य है ऐसे उस परमात्मा को अगली पंक्ति में कहा परमात्मा का विशेषण सनिम जो अच्छी तरह सेवनीय है भजनीय है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए जिसकी आज्ञाओं का हमें पालन करना चाहिए ऐसा वो जो उस परमात्मा को और मेधाम जो ज्ञान स्वरूप है उस परमात्मा को और वो परमात्मा जो मेधाम मेधा को देने वाला है बुद्धि को देने वाला है उस परमात्मा को अयाशिषम मैं चाहता हूं याचना करता हूं इन गुणों वाले परमात्मा से कामना करता हूं प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे बुद्धि दे इन गुणों वाले और बुद्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं चाहता हूं कि वो मुझे मिल जाए ऐसा मैं स्वाहा सत्यवाणी अपनी वाणी को कहता हूं आर्य की प्रतिज्ञा आर्य की कामना वचन ये होगा कि मैं उस परमात्मा को चाहता हूं मैं उस परमात्मा से श्रेष्ठ बुद्धि को चाहता हूं मेधा शब्द का अर्थ खोला महर्षि ने विद्या सत्य धर्मादि धारण वाली बुद्धि को जिसमें विद्या रह सके ज्ञान रह सके और सत्य धर्म आदि को जो धारण कर सके समझ सके उसे व्यवहार में ला सके ऐसी उस बुद्धि को मैं चाहता हूं महर्षि ने यहां पर परमात्मा को सभापति कहते हुए एक बात रखी एक सिद्धांत रखा दूसरी पंक्ति में लिखते हैं सहे सभा प्रिय सभा ही हमारा राजा न्यायकारी हो हमारा राजा न्यायकारी राजा कौन हो सभा हो व्यवहार में संसार में परमात्मा तो हमारा सभापति है यदि कोई एक व्यक्ति सभापति हो सकता है तो वो परमात्मा हो सकता हम किसी व्यक्ति को सभापति न समझें संसार में तो सभा ही हमारा राजा न्यायकारी हो ऐसी इच्छा वाले हम आपको आप हमको कीजिए आर्य ये कामना करता है कि एक व्यक्ति मेरा सभापति ना हो क्योंकि एक व्यक्ति अन्याय कर सकता है जाने या अनजाने जब सभा हमारी पति होती है अनेक व्यक्ति जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो मिलकर के जो निर्णय देते हैं वो हमारा सभापति हो उसको हम माने वो हमारा न्यायकारी राजा हो ये प्रजातंत्र की व्यवस्था का संकेत है किसी एक व्यक्ति को राजा बना दिया कैसे भी निरंकुश राजा कि जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो वो राजा चाहे जन्मना चुन करके आया हो राजा का पुत्र होने से राजा बना हो अथवा लोगों के द्वारा चुना जा करके राजा बनाओ तो भी वो अकेला हमारा राजा कभी ना हो निरंकुश ना हो जनता से चुना जाकर भी यदि एक व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा उस पर किसी का नियंत्रण न रहेगा तो वो अन्याय कर सकता है अनजाने में कर सकता है कितना भी श्रेष्ठ हो इस संसार का संचालन मानव जाति का संचालन किसी देश का संचालन किसी संस्था का संचालन केवल एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होना चाहिए एक सभा होनी चाहिए जो इसका निर्णय करे कि संस्था कैसे चलेगी ये समाज कैसे चलेगा ये राष्ट्र कैसे चलेगा एक दूसरे के दोष को कमी को दूसरा व्यक्ति समझ सकता है और पूर्ति कर सकता है एक ना हो तो महर्षि का वचन है सभा ही हमारा राजा न्यायकारी हो ऐसी इच्छा वाले आप हमको कीजिए यानी आर्यों को ये कामना करनी चाहिए किसी एक व्यक्ति के प्रति अंधभक्त पूरे समर्पित कभी नहीं होना चाहिए ये आर्य की भावना होनी चाहिए महर्षि इसी को और स्पष्ट करते हैं किसी एक मनुष्य को हम लोग राजा कभी न माने यदि एक को राजा मानना हो तो मनुष्य को तो कभी राजा ना माने अपना दिशा निर्देशक किसी एक व्यक्ति को कभी न माने कोई भी मनुष्य हो कितना ही बड़ा राजा हो कितना ही बड़ा विद्वान हो कितना ही बड़ा योगी हो कोई भी हो एक को अपना दिशा निर्देशक मान के हम कभी ना चलें क्योंकि वहां दोष की संभावना बनी रहती है या तो हम अनेक विद्वानों अनेक सभासदों अनेक राजपुरुषों को मिलकर के स्वीकार करें अब दोष की संभावना बहुत कम हो जाएगी किसी विषय का निर्णय करना हो तो अनेक विद्वानों को सुन के समझ के फिर हम कुछ करें अनेक महापुरुषों को समझ करके करें किसी एक महापुरुष के पीछे ना लग जाए कि उसने जो कह दिया बस वही ठीक है क्योंकि एक मनुष्य से त्रुटि हो सकती है और यदि हमें किसी एक पर निर्भर रहना है तो एक केवल परमात्मा हो सकता है एक पे निर्भर रहना है एक को सभापति बनाना है एक के अनुसार चलना है तो वो केवल और केवल परमात्मा हो सकता है इसलिए महर्षि ने कहा किसी एक मनुष्य को हम लोग राजा कभी न माने किंतु आपको ही हम सभापति सभाध्यक्ष राजा माने एक बहुत बड़ी बात है ये मनुष्य के स्वभाव को समझ करके कही हुई बात है ये ईश्वर के आदेश को समझ करके कही हुई बात है तो ईश्वरीय व्यवस्था में हम चलें और जब हम किसी ऐसी स्थिति में बने सभासद के सभापति के रूप में किसी संस्था के संचालक के रूप में किसी समाज के संचालक के रूप में किसी राष्ट्र के संचालक के रूप में लोग हमें चुन भी लें या स्थिति ऐसी हो कि हमें ही बनना पड़ रहा हो तो उस आर्य को ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वो निरंकुश रूप से निर्णय ना ले अकेले निर्णय ना ले क्योंकि जब आर्य ये कामना करता है कि एक व्यक्ति हमारा सभापति ना हो नहीं होना चाहिए तो जब वो सभापति बने तो अकेले निर्णय ना ले वो ऐसी स्थिति रखे कि एक का नियंत्रण दूसरे से दूसरे का तीसरे से ऐसे कुछ व्यक्ति रहे एक सभा रहे एक समिति रहे संचालक के रूप में एक सभापति रहेगा एक राजा रहेगा आर्य समाज का कोई मंत्री या प्रधान रहेगा संस्था का प्रधान रहेगा गुरुकुल का आचार्य रहेगा ये रहेगा एक व्यक्ति रहेगा लेकिन वो निरंकुश ना हो वो सभा के अधीन रहे वो अनेक व्यक्तियों से जुड़ा हुआ रहे वो अनेक विद्वानों योग्य व्यक्तियों के प्रति अपने को उत्तरदायी समझे यदि कोई सभासद बोलता है तो वो उस पर विचार करे और सभासद को भी बोलना आवश्यक है क्योंकि सभा वो सभा ही नहीं होती जहां सत्य बोलने वाले अन्य सभासद ना हो तो ये जैसे सभासद के लिए काम्य है यदि हम आर्य हैं सभासद के रूप में हम जो कामना कर रहे हैं तो जब हम आर्य होते हुए कभी सभापति बने तो हम इस नियम का अनुशासन का पालन करें ये वेद का आदेश है ये महर्षि का आदेश है और ये न्याय है ये निरपवाद है इसमें आशंका नहीं की जा सकती इससे निर्दुष्ट स्थिति शासन प्रशासन की और कोई नहीं हो सकती वो यहां उपदेश दिया गया और अंत में महर्षि कहते हैं एक ईश्वर से भिन्न कोई जीवों को सेव्य नहीं है अंतिम रूप से परमात्मा ही हमें सेव्य है इस संसार की वस्तुओं को सेवन करते हुए हम परमात्मा का ही सेवन कर रहे हैं उसकी व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं ये परमात्मा का ही सेवन है और इन सब वस्तुओं का सेवन हम परमात्मा को पाने के लिए करें मुक्ति को पाने के लिए करें परमात्मा के आनंद को पाने के लिए करें तो ये सारा सेव्य परमात्मा ही परोक्ष रूप से बनेगा यही वेद में ईश्वराज्या है परमात्मा स्वयं यही चाहता है सो सब मनुष्यों को मानना अवश्य योग्य है ये सब मनुष्यों के लिए वेद है सब मनुष्य आर्य बने श्रेष्ठ बने उसके लिए ये वेद है और जो अपने को आर्य कहते हैं श्रेष्ठ समझते हैं उनको ये व्यवहार अपने अंदर लाना चाहिए ये भावना मन में होनी चाहिए परमात्मा को ही अपना मुख्य सभापति मानते हुए अपने जीवन को चलाना चाहिए ये आर्यों की भावना करणीय आज इस मंत्र में कही गई मन में इस भावना को रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ